नमस्कार मित्रों ये वीडियो है कि चीन भारत से इतना आगे क्यों है इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग में आगे है इसलिए मिलिट्री में आगे है और बेसिकली बेसिक उसकी जो प्रगति है वो इसलिए क्योंकि चीन इंजीनियरिंग में हमसे ज्यादा आगे हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें छोटा मोबाइल हो या माइक्रोवेव हो या फ्रिज हो मेड इन चाइना पूरी दुनिया की दुकानें मेड इन चाइना सामान से भरपूर है जबकि इंडिया के अंदर भी मेड इन इंडिया सामान अब धीरे-धीरे गायब हो रहा है तो उसकी वजह क्या है चीन 1950 में भारत से हर एक एंगल से पीछे था अब किसी भी चीज का प्रोडक्शन देख लो उसकी सेना भारत की सेना के मुकाबले में कमजोर थी उसके पास हथियारों के उत्पादन करने की फैक्ट्रियां कम थी स्टील का उत्पादन करने की फैक्ट्रियां कम थी पर कैपिटा गेहूं का प्रोडक्शन चावल का प्रोडक्शन हर एक चीज में चीन भारत से पीछे था और अब वो भारत से आगे है इंजीनियरिंग में आगे है उसका उसके तीन चार बड़े कारणों में से एक है कि चीन की जुडिशरी अदालत भारत की जुडिशरी की तुलना में कम करप्ट है सांठगांठ कम है भाई भतीजावाद चीन की अदालतों में भारत की अदालतों की तुलना में कम है और उसी चीन में अमेरिका की अदालतों की तुलना में ज्यादा इसलिए चीन है वो अमेरिका से हर एक एंगल में पीछे है चीन जितने भी मोबाइल बना ले कोई भी नया मोबाइल बनता है तो पहले अमेरिका में बनता है iPod है iPad है कोई भी नई चीज बनती है नया CPU है तो वो पहले अमेरिका में बनता है तीन चार साल बाद चाइना उसको कॉपी कर लेते हैं देख के पर अमेरिका जो हथियार बनाता है चीन उसकी कॉपी नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी प्रोपराइट पूरी कस्टम टेक्नोलॉजी होती है मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए इसलिए चीन हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका से सालों साल सालों साल पीछे है और शायद इसी वजह से एक दिन चीन है वो अमेरिका के हाथ हो बुरी हाल मार खाएगा सिवा कि वो अमेरिका के जितना ही डेमोक्रेटिक हो जाए वो आगे की बात है और वो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम है तो चीन का है हमें हमारी समस्याओं के बारे में सोचना है तो हमारी अदालतों में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद ज्यादा है न्यायाधीशों में चीन में कम है क्यों कम है ऐसा नहीं है कि चीन में लोग ईमानदार है या तो वो चाउमीन खाते हैं इसलिए वहां के जज है वो रिश्वत नहीं लेते और यहाँ पे रोटी और सब्जी खाते हैं इसलिए वो ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है कल्चर में कुछ नहीं है ये जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं वो पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं वो एकदम हम्बग है झूठ है सफेद झूठ है ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से डिसाइड होता है कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मैं अभी एन्यूमरेट करके बताऊंगा दूसरा वहां पे जमीन की ओनरशिप गवर्नमेंट की है वहां चीन में अभी भी प्राइवेट जमीन नहीं है सरकार जमीन देती है पंद्रह साल की लीज पे पांच साल की लीज पे तीस साल की लीज पे मैक्सिमम लीज वहां पे है रेसिडेंशियल केस में होती है साठ साल इंडस्ट्रियल में मैक्सिमम होती है तीस साल खेती में मैक्सिमम होती है पंद्रह साल लीज पे मकान देते हैं चाइना में और लीज खत्म होने के बाद चाइना में कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है वरना सरकार है वो जमीन वापस ले लेती है और फिर दूसरी जगह उसको जमीन देते हैं अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना भारत से आगे है तो ये दो फैक्टर से ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि इंजीनियरिंग ज्यादा इंप्रूव हो गई भाई इंजीनियर को क्या फर्क पड़ता है कि भाई अदालत में भ्रष्टाचार ज्यादा है कम क्यों है तो पहले तो वहां की अदालत में भ्रष्टाचार कम क्यों है उसका मैं रीजन दू कि भारत में हजार सैंक्शन स्ट्रेंथ है जिसमें से दो तीन हजार खाली रहते हैं और अभी तेरह पंद्रह हजार जज ही है जबकि चाइना में जुडिशरी की संख्या दो लाख तो जज के पास टाइम पास का बहाना नहीं है टाइम पास का बहाना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई तुमको इतना ही काम दिया था तो क्यों नहीं कर पाया हमारे यहाँ क्या है कि जज को टाइम पास का बहाना मिल जाता है एक एक अदालत में दस दस बीस बीस हजार पेंडिंग केस है इसलिए जज को आराम से टाइम पास करने का बहाना मिल जाता है और टाइम पास करके वो पैसा कैसे निकलवा सकता है कि कोई आदमी है जिसको बोलेगा कि भाई यदि तुमको आ, एक साल में जजमेंट चाहिए तो इतना पैसा लूंगा और यदि नहीं दोगे तो दस साल में भी जजमेंट नहीं दूंगा और कोई देखा कि भाई ये केस है वो एकदम बोगस केस है मतलब उसमें जजमेंट दिया तो इस आदमी के फेवर में ही देना पड़ेगा तो भी वो कैसे अटका देगा उसको कि भाई तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं जजमेंट नहीं दूंगा यदि उसको जज को जजमेंट देना पड़ेगा तो कभी कभी केस इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है कि उसको उस आदमी के फेवर में ही जजमेंट देना पड़ेगा पर उसके पास डिले करने का पावर है इसलिए वो डिले करता जाता है ताकि उसको पैसा मिल सके जबकि चाइना में वो डिले करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास क्योंकि दो लाख जज है एक जज को वो दस पंद्रह पेंडिंग केस ही होते हैं तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई इस केस को मैं दो साल तक जजमेंट नहीं दे पाया तो एक ये बात है दूसरा जो जुडिशरी का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो रिटर्न एग्जाम से है हमारे यहाँ रिटर्न एग्जाम नाम का ही है उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसी के मेन मार्क्स है वहां पे रिटर्न एग्जाम है वो ब्रॉड बेस्ड है मतलब जुडिशरी में यदि 2000 लोग लेने हैं तो जैसे यूपीएससी एग्जाम में देश में से 25 लाख लोग 10 लाख लोग 25 लाख तो नहीं पर देश में से 10 लाख लोग रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं वहां पे चाइना में भी जुडिशरी की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होती है उसमें एलएलबी होना जरूरी नहीं है उसमें वकील होना जरूरी नहीं है आप मेरिटोरियस हो इंटेलिजेंट हो तो जज की एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट एग्जाम में पास हो जाता है तो यदि उसके पास वकील की ट्रेनिंग है उसके पास यदि लॉ की डिग्री नहीं है तो उसका उतना दो तीन साल उसको पढ़ाया जाता है वो सिस्टम हमारे यहाँ भी पॉसिबल है लेकिन वो नहीं करते जानबूझ के जज है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अपने रिश्तेदारों को जुडिशरी में घुसाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये सिस्टम नहीं रखा कि भाई कोई भी आदमी जुडिशरी के एग्जाम में बैठे यदि वो मेरिटोरियस है, मेरिट है, इंटेलिजेंस है उसमें, लॉजिकल लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी है, और वो पास हो उसमें यदि वो नंबर में आ गया, पास हो गया नहीं, टॉप थाउजेंड में आ गया, टॉप टू थाउजेंड में आ गया, तो इसका मतलब कि वो बी करने के भी काबिल है। तो अब उसको उसके पास बी नहीं है तो पढ़ाओ उसको साल दो साल तीन साल एल के, के कोर्स और बाद में उसको जज की नौकरी पे डालो पर यहाँ पे कंडीशन रख दी है कि आप एलएलबी होगी तो ही आप जज की एग्जाम में बैठ सकते हो वहाँ पे चाइना में ऐसी कंडीशन नहीं है तो उनका जो रिक्रूटमेंट है वो ब्रॉड बेस्ड हो गया ब्रॉड बेस्ड हो गया यानी ज्यादा मेरिट वाले लोग आ पाएंगे अब सेकंड यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत सारे मेरिटोरियस लोग हैं वो सीधा इंजीनियरिंग और मेडिसिन में चले जाते हैं तो जुडिशरी में वो जाते ही नहीं है और जुडिशरी में कौन जाते हैं जजों के लड़के या बड़े वकीलों के लड़के तो एक तरह के हमारे यहाँ जुडिशरी वो एक खानदानी पेशा हो गया है कि वकील का लड़का जज बनेगा या जज का लड़का जज बनेगा और, वो एक खानदानी पेशा हो गया जबकि चीन में वो एक खानदानी पेशा नहीं बना वो एक ब्रॉड बेस्ड रिक्रूटमेंट से होता है फिर यहाँ पे जो थोड़े बहुत इंटरव्यू होते हैं वो रैंडमाइज पैनल से होते हैं इसलिए फिक्सिंग मुमकिन नहीं है रैंडमाइज पैनल से कैसे होते हैं कि 2000 लोगों को रिक्रूटमेंट करनी है तो ऐसा नहीं है कि वो 10000 को बुलाएंगे 2000 की रिक्रूटमेंट करनी है तो 3000 को ही बुलाएंगे साढ़े तीन हजार को ही बुलाएंगे या तो कभी कभी ढाई हजार को ही बुलाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि रिटर्न एग्जाम में पास हो गया यानी ये आदमी काबिल है कुर्सी पर बैठने के लिए अब इसमें कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हो, तो ही उसको रिजेक्ट करना है। तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम वो तो दो पांच परसेंट लोगों को ही होता है कि क्रैक आदमी है, फिर भी वो रिटर्न में पास हो गया। तो तो वो उनकी ये सोच है कि यदि हजार लोगों को रिक्रूट करना है, तो सिर्फ 1100, 1200, 1500, 1100 लोगों को 1200 लोगों को ही बुलाना है और इनमें से जो लगे कि इन लोगों में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उनको ही रिजेक्ट करना है। तो उनका जो इंटरव्यू है, वो एक तरह का सिस्टम मेरिट इवोल्यूशन के लिए नहीं होता, वो इसी के लिए होता है कि भाई इस आदमी में कोई सनकी टाइप की बीमारी तो नहीं दिख रही ना आउटराइट बीमारी कि भाई ये आदमी एक दिन भी कुर्सी के बैठने के लायक नहीं हो तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि 100 लोगों की सीट होती है तो 300 लोगों को बुलाते हैं तो इससे जज को काफी बेनिफिट मिला जो इंटरव्यू लेने वाला है इंटरव्यू लेने वालों को रिश्वतखोरी करने का चांस बढ़ गया दूसरा वहां पे रेंडमाइज पैनल इंटरव्यू लेते हैं, मतलब कि हजार लोग आए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू लेने वालों की तादाद मान लो सौ लोगों की है, तो एट रैंडम लास्ट मोमेंट पे पांच-पांच लोगों की टीम बनती है। और कैंडिडेट को बोला जाता है तू इस टीम के पास जा इंटरव्यू देने के लिए तू इस पैनल के पास जा और वो एलोकेशन भी लास्ट मोमेंट पे रेंडमाइज होता है तो इससे फिक्सिंग क्यों पॉसिबल नहीं है कि यदि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं तो मुझे नहीं पता मैं किसका इंटरव्यू लेने वाला हूं जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको नहीं पता कि वो कि, कौन सी पैनल के पास कल इंटरव्यू देने जाएंगे क्योंकि वो आखिरी दिन पे आखिरी मोमेंट पे रेंडम एलोकेशन से होता है जबकि यहाँ पे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाली है ये मई का महीना है रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाली है जून महीने में या जुलाई महीने में और जून महीने में पता चल जाता है कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है और जनरली एक या दो ही पैनल होती है इंटरव्यू लेने के लिए तो फिक्सिंग करने के लिए अब मेरे पास पूरा एक महीना है कि भाई इतना पैसा दे तो मैं तेरे को इंटरव्यू में पूरे नंबर दे दूंगा वगैरह वगैरह तो इस तरह से यहाँ पे जुडिशरी में जब रिक्रूटमेंट होता है तो हद से ज्यादा नेपोटिज्म और करप्शन के थ्रू होता है और चाइना में रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें करप्शन और नेपोटिज्म बहुत कम है नौ के बराबर है उसके बाद जुडिशरी में जब प्रमोशन होते हैं तो भी चाइना में भाई भतीजावाद नहीं होता यहाँ प्रमोशन में कैसे भाई भतीजावाद चलता है कि गुजरात में जस्ट मैं नंबर दे रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है कि 700 मजिस्ट्रेट है मजिस्ट्रेट के ऊपर का लेवल होता है सेशंस कोर्ट जज सेशंस कोर्ट के जज के ऊपर आता है हाई कोर्ट उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट में कुछ गुजरात में 600 सात सौ मजिस्ट्रेट मान लो सेशंस कोर्ट में 200 जज है हाई कोर्ट में 35 जज है अब सेशंस कोर्ट में से मान लो 20 लोग रिटायर हुए तो हाई कोर्ट के जजों को अब 20 लोगों को रिक्रूट करना है सेशंस जज में तो वो 10 लोग मजिस्ट्रेट में से लेंगे सीनियरिटी के हिसाब से मेरे पर्सनल इवोल्यूशन के हिसाब से और बाकी दस लोग एक्सटर्नल रिक्रूटी होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटी कौन जो कि हाईकोर्ट में वकील है और लगा कि हाँ ये जज के जज बनने के लायक है उसको जज बना दिया भाई कैसे पता लगाया तुमने जज बनने के लायक है ना जानना मतलब तुम्हारी जान पहचान है पब्लिक में तो कोई उनको जान पहचान भी नहीं है इसमें भाई भतीजावाद और यारी दोस्ती के सिवा कुछ नहीं होता और कॉर्पोरेट लॉबिंग कॉर्पोरेट लॉबिंग यानी मैं जज हूं और किसी बड़ी कंपनी ने मुझे पैसा दिया कि भाई ये हमारा बहुत ही मतलब हमारे काम का वकील है इसको जज बना दो और मैंने उसको जज बना दिया कॉर्पोरेट लॉबिंग आजकल ज्यादा हो गई है मतलब नेपोटिज्म जितना है अब कॉर्पोरेट लॉबिंग हो गया है तो चाइना में ये नहीं है चाइना में मैजिस्ट्रेट के बाद ऊपर के लेवल के जो जज है उसमें परसेंट प्रमोशन से आते हैं जैसे आप यहाँ हमारे यहाँ देखो कि जो कलेक्टर में से सेक्रेटरी बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी की दस जगह खाली हुई तो पांच कलेक्टर में से लेंगे और पांच किसी भी मिनिस्टर ने अपने मनमाने आदमी को सेक्रेटरी बना दिया उसको प्रमोशन देना है तो उसको कैडर में से ही लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंटरनल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो सकता है कि कस्टम में किसी ने दस साल काम किया वो अब इनकम टैक्स में काम करेगा वो इंटरनल डिपार्टमेंट वो एक्सटर्नल रिक्रूट ही नहीं हुआ क्योंकि वो दस साल उसने कस्टम में काम किया हुआ किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ वो डेप्यूटेशन पे आ रहा है वो अलग बात होगी तो इस तरह से जो प्रमोशन के टाइम भारत की जुडिशरी में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हर एक लेवल पे होता है सेशंस कोर्ट में 50 परसेंट मजिस्ट्रेट से आते हैं 50 परसेंट यार दोस्त आते हैं जब हाई कोर्ट में मान लो 10 जगह खाली हुई तो पांच लोग सेशंस कोर्ट में से प्रमोट हो गए होंगे और पांच लोग कौन होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है हाई कोर्ट में वकील है उन्होंने कभी जज का मजिस्ट्रेट का काम ही नहीं किया तो ऐसे ऐसे लोग हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं जिन्होंने कभी लोअर कोर्ट में पाँव नहीं रखे कभी लोअर कोर्ट में काम नहीं किया उनको पता ही नहीं है कि लोअर कोर्ट के केस कितने बुरे हाल है और न उनको जानने में रुचि है जबकि चाइना में सुप्रीम कोर्ट में जो आता है वो पहले मैजिस्ट्रेट का काम किया होता है फिर प्रमोट होके ऊपर तक आता है तो उसको पूरी मशीनरी का ए टू जेड आइडिया होता है अब तो वहां पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चाइना की जुडिशरी में किसी भी लेवल पे नहीं है और चाइना धीरे-धीरे ज्यूरी सिस्टम पे आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कितना भी पांव हाथ पांव तोड़ दो हाथ पांव उछाल लो लेकिन जज लॉयर नेक्सस है वो जज सिस्टम के ब्लड में है मैं ये नहीं कहूंगा हंड्रेड परसेंट पर नाइनटीन परसेंट जज के सेकंड नेचर होता है कि वकील के साथ साठगांठ बनाना अपने रिश्तेदार वकीलों को प्रमोट करना क्यों क्योंकि उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि शायद ही कोई पॉइंट ब्लैंक ईमानदार आदमी होगा पूरी पॉपुलेशन में से हजार में से दो पांच दस लोग ऐसे ईमानदार हो सकते हैं होते हैं मना नहीं करता लेकिन वो तो हर जगह मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट में ईमानदार जो सौ में से पूरी सोसाइटी में से यदि सौ में से पांच लोग पॉइंट ब्लैंक ईमानदार है तो सबके सब हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट के बाहर कोई ईमानदार ही नहीं है ऐसा नहीं होता तो हाईकोर्ट में जो 600-700 जज है उसमें से दस परसेंट यानी साठ सत्तर जज ऐसे होंगे कि जो नेपोटिज्म नहीं करते लेकिन बाकी नाइन्टी परसेंट के नेपोटिज्म है उनके रग रग में ब्लड ब्लड में है और वो चाइना में भी प्रॉब्लम उन्होंने स्टडी किया इसलिए चाइना में भी अब धीरे धीरे जूरी सिस्टम ला रहे हैं तो उसकी वजह से इंजीनियरिंग की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ गई अब मैं मेन चीज पे आता हूं क्या चाइना के इंजीनियर क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी सोसाइटी में इंप्रूव होती है टर्निंग पॉइंट कौन होता है वो आदमी जिसके पास 10 20 50 लोगों की कंपनी है क्योंकि जब उसके पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉय होती है 100 से ज्यादा एम्प्लॉय होती है तो उसका एम्प्लॉई से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता अब वो सिर्फ सुपरवाइजर से डील करता है सुपरवाइजर एम्प्लॉय से डील करते हैं उसका एम्प्लॉय से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रखा यानी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके अब वो ना सोच सकता है ना वो इंप्लीमेंट कर सकता है ना उस पर वो क्लोज मॉनिटरिंग कर सकता है तो जिसके पास 30-40 आदमी होते हैं वो इनोवेटिव भी होता है, प्रोडक्टिव भी होता है, उसका अपना पैसा दांव पे लगा है। यदि प्रोडक्ट खराब निकला तो उसका ब्रांड नेम डूबेगा, प्रोडक्ट खराब निकलेगा उसका पैसा डूबेगा। यदि वो काम करने का अच्छा तरीका ढूंढता है, दो परसेंट, पांच परसेंट कॉस्ट कम हो गई, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए वो काफी प्रोडक्टिवली और इनोवेटिवली काम करता है। वो एक-एक चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब वो आदमी भारत में क्यों उसकी एफिशिएंसी खत्म कम होती है क्योंकि उसको बहुत सारे सरकारी अफसर परेशान करेंगे उसको आ, उसके सामने गलत लेबर केस आ सकते हैं सही लेबर केस भी आ सकते हैं ऐसा नहीं करता कि लेबर केस सारे गलत होते हैं सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं पर वो जब अदालत में जाएगा तो अदालत में बड़ी कंपनियों का क्यों बोलबाला होगा क्योंकि उनके हाईकोर्ट के जजों के साथ पहचान है और हाईकोर्ट के जज है वो लोअर कोर्ट के जज के ऊपर कंट्रोल करते हैं चाइना में लोअर कोर्ट के जजों के ऊपर हाईकोर्ट के जज का कंट्रोल नहीं है अमेरिका में भी नहीं है अमेरिका में लोअर कोर्ट में पहले तो ज्यूरी डिसाइड करती है और लोअर कोर्ट का जो जज है वो अधिकतर इलेक्टेड होता है हाई कोर्ट का जज उसको सीधा जेल भेज सकता है सीधा उसको नौकरी से निकाल सकता है जेल भेज सकता है पर उसके ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको सस्पेंड नहीं कर सकता उसके प्रमोशन का कोई पावर नहीं है हाई कोर्ट के जज के पास इसलिए लोअर कोर्ट का जज है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है भारत में लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का गुलाम की तरह काम करता है क्योंकि हाईकोर्ट के जज के पास पावर है कि उसको कभी भी सस्पेंड कर दे, उसको नौकरी से निकाल दे, उसके सामने कोई अपील वपील कुछ नहीं होता। तो वो एकदम हाईकोर्ट के जज से डरा हुआ रहता है, हाईकोर्ट का जज उसको बोले कि ऐसा जजमेंट देता है तो वो ऐसा ही जजमेंट दे देगा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, पांच हजार एम्प्लॉई पचास हजार एम्प्लॉई वो हाईकोर्ट के जज से नेक्सस बनाती है और उसके थ्रू वो छोटी कंपनियों को कैसे परेशान करती है कि सच्चा और झूठा केस करके उसको अदालत में घसीट के ले गया और वहां उसको हलाल कर दिया और वो चाइना में उसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि एक तो वहाँ लोअर कोर्ट के जज का नेक्सस कम है और वहाँ पे केस का जजमेंट उसको हफ्ते दो हफ्ते में देना है तो उसके पास झूठ बोलने के लिए उसके पास धक्के खिलाने के टाइम नहीं है धक्के खिलाकर परेशान करने का टाइम नहीं है और तीसरा कि वो रिटर्न एग्जाम से आया होता है यानी लोअर मिनिमम मेरिट गारंटीड है और उसके बावजूद भी अब चाइना में ज्यूरी सिस्टम आती है ज्यूरी सिस्टम आती है एट रैंडम दस पंद्रह लोगों को बुलाया जाएगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा पूरी पॉपुलेशन में से 10 लाख की पॉपुलेशन में से 5 लाख की पॉपुलेशन में तो उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा कि इस आदमी की किसी प्रकार की काट नहीं है अब दूसरा रीजन चाइना पावरफुल है उसका रीजन है जमीन का कानून जमीन का कानून कैसे मैटर कर रहा है कि चाइना में जमीन की ओनरशिप गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट लीज पे देती है तो वहां पे होर्डिंग नहीं हो रही होर्डिंग क्यों नहीं हो रही क्योंकि सरकार ने जिसको जमीन लीज पे दी उससे किराया लेती है यानी यदि मैंने जमीन ली और मैं खाली बैठा हूं तो तो मुझे किराया देना पड़ेगा मेरे को हर साल घाटा होगा मैं जमीन सरकार को वापस कर दूंगा इसलिए इंडस्ट्री को जितनी चाहिए उतनी जमीन मिल जाती है क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी खाली पड़ी है सस्ते में मिल जाती है और वो जो किराया है वो कैसे एडजस्ट करते हैं कि यदि आपकी किराया देना है या आपको उतना इनकम टैक्स देना है दो, दोनों नहीं देना यानी जो कंपनी जमीन का प्रोडक्टिवली यूज कर रही है वो कंपनी या तो इनकम टैक्स भरेगी या तो उसके एम्प्लॉय इनकम टैक्स भरेंगे वो भी उसमें ब्रैकेट होता है मान लो मेरी कंपनी ने बिजनेस किया जमीन ली और जमीन का किराया आता है दस लाख मैंने बीस लाख का इनकम टैक्स भरा तो अब मुझे जमीन का किराया नहीं भरना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर दिया मान लो कंपनी ने घाटा किया तो इनकम टैक्स तो जीरो हो गया तो मुझे क्या दस लाख जमीन का किराया भरना पड़ेगा तो देखा जाएगा कि भाई मैंने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी और एम्प्लॉई ने कितना सैलरी पे टैक्स भरा यदि वो 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो भी मुझे जमीन पे किराया नहीं देना पड़ेगा यानी यदि मैं जमीन का प्रोडक्टिव यूज कर रहा हूं तो मुझे जमीन का कॉस्ट मेरे लिए जीरो हो गई तो आजकल कोई भी नया आदमी दुकान डालता है फैक्ट्री डालता है तो उसके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है जमीन की कॉस्ट होती है और वो एक तरह का रिस्क क्यों होता है कि यदि मेरी फैक्ट्री नहीं चली तो जमीन का जो किराया है वो तो सारा पानी में गया तो इसकी वजह से वहां पे जमीन की कॉस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे कम आती है और प्रोडक्शन ज्यादा है और छोटे छोटे और भी एग्जाम्पल है पर वो एडअप हो जाते हैं एडअप कैसे हो जाते हैं कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है उसे क्या बेनिफिट मिलता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में डैम बनाने की कॉस्ट के बाद जो बिजली की कॉस्ट आती है वो आज के भाव के हिसाब से मैं बोलू बीस रुपया प्रति यूनिट आती है कोयले में आती है कुछ ढाई रुपया प्रति यूनिट आती है सोलार सबसे महंगा है सोलार में आती है कॉस्ट आठ से लेकर पंद्रह रुपये यूनिट तक कॉस्ट आती है और वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज्यादा है नदियां तो यहां पे भी बहुत ज्यादा है लेकिन क्योंकि यहां पे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज है वो स्टे ऑर्डर डाल देते हैं आप कोई भी डैम का प्रोजेक्ट देख लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर डाल के रखा है नर्मदा का एग्जाम्पल ले लो नर्मदा का डैम है 1942 में 1940 में भाईका का नाम के एक इंजीनियर थे गुजरात में उन्होंने नर्मदा की योजना प्रपोज की थी कि यदि नर्मदा का और इस तरह का बना तो गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों को छोड़कर कहीं भी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी कहीं भी बिजली की शॉर्टेज नहीं होगी उन्होंने 1940 में कहा था कि 40 साल तक 50 साल तक गुजरात को बिजली की शॉर्टेज नहीं होगी इतना सारा बिजली नर्मदा के टाइम से बन सकता है 1956 में 1950s में भाखड़ा नंगल बैंड बना उससे उनकी बात कंसेप्चुअली प्रूव हो गई पहले भाई काका की बात कोई मानता नहीं था कि भाई ये तो बोल रहे हैं कागज पे क्योंकि उस समय भारत में इतने बड़े डैम बहुत कम थे न के बराबर थे 1940 की बात कर रहा हूं फिर भाखड़ा नंगल डैम बना तो लोगों को भाई काका की बात सच लगी कि भाई भाखड़ा नंगल से पानी आ सकता है उतना मिनिमम आधा तो नर्मदा से आ ही सकता है तो नाइनटीन में आ, उसका शिलान्यास हुआ उसके बाद एक दो तीन हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज के स्टे ऑर्डर आते गए तो अभी भी नर्मदा की योजना पूरी नहीं हुई और 19 ईयर 2001 में जो फाइनल जजमेंट आया उसमें उन्होंने नर्मदा की कैपेसिटी 35-40 परसेंट कम कर दी जो डैम की हाइट थी वो कुछ 20-30 परसेंट कम हो गई कम करा दी जो भाई काका की ओरिजिनल 1940 की प्रपोजल थी जो 1956 की प्रपोजल थी उसके मुकाबले पानी संग्रह करने की कैपेसिटी थी वो कुछ 30-40 परसेंट कम हो गई बिजली बनाने की कैपेसिटी भी 30-40 परसेंट कम हो गई वो क्यों क्योंकि ये जो विदेशी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसा देता है सब स्टे ऑर्डर डालने के लिए कि भारत में कहीं भी विकास का काम होता है विदेशी लॉबी आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के वकीलों को रिश्तेदार वकीलों को पैसा दे देती है सुप्रीम कोर्ट के जज हाईकोर्ट के जज स्टे ऑर्डर डाल देते हैं हमारा डेवलपमेंट का काम रुक जाता है चाइना में ये नहीं हो रहा तो उसकी वजह से चाइना का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो भारत के मुकाबले कुछ दो या तीन गुना है आप विकीपीडिया में देख सकते हैं एक्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वर्ल्ड करोगे तो दुनिया के सारे देशों का आ जाएगा तो चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा है इसलिए बिजली वहां पे सस्ती है फिर दूसरा रीजन कि चाइना में जो जमीन लीज पे होती है उसकी वजह से खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया कैसे कि वहां पे जमीन किसान को लीज पे दी जाती है पंद्रह साल के लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उसको मान लो दस एकड़ की जमीन दी और एक एकड़ में मान लो सौ किलो गेहूं बन सकता है तो एक हजार किलो गेहूं बन सकता है तो सरकार उसको कहती है कि भाई हमें तो गेहूं के सिवा कुछ नहीं उगाएगा और 500 किलो गेहूं चाहिए यानी जमीन से उसे मॉनिटरी किराया नहीं लेते अधिकतर केस में उसे ग्रेन लिया जाता है फिर उसने तीन साल तक 500 किलो गेहूं डिलीवर किया उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी चेंज होती है कि अब तू 75 परसेंट जमीन पे गेहूं उगाएगा सरकार को 500 किलो देना है बाकी 25 परसेंट पे तो कुछ भी उगा सकता है तो किसान ऐसी चीज उगाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा है जैसे सब्जियां या फ्रूट है वगैरह और फिर नेगेटिव लिस्ट भी होता है कि ये चीज नहीं होगा सकता कि गन्ना नहीं होगा सकता तंबाकू नहीं हो सकता इस तरह का एक नेगेटिव लिस्ट होता है तो वहां पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म नहीं है मतलब कि एक परिवार को कितनी जमीन दी जाती है कि परिवार में पांच लोग हैं तो उतनी ही जमीन दी जाती है जितनी सात आठ नौ लोग खेती कर सके यानी पांच लोगों का परिवार होगा तीन चार वो लेबर हायर करेंगे पर ऐसा वहां पे आपको देखने नहीं मिलेगा कि एक किसान है और उसने सौ लेबर हायर करके रखे उसका रीजन क्या है ये ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले पांच हजार साल से यह है कि जो मजदूर जो जो खेत मजदूर होता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है जो लैंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आप खेत में मजदूर हो आप चल रहे हो आपने देखा कि एक जंगली पेड़ उग गया है वो जंगली पेड़ यदि आप मालिक हो उस खेत के तो तुरंत उस जंगली पेड़ को खींच निकालोगे क्योंकि वो दो दिन भी जंगली पेड़ रहा तो वो आसपास के गेहूं के या चावल के पौधों को खत्म कर देगा लेकिन आप खेस मजदूर हो आपका क्या फर्क पड़ता है आपको तो दिन की तनख्वाह मिल गई तो आप उसको हटाने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लोगे यानी ओनर यदि खुद खेत पे रोज आता है वो खुद खेती कर रहा है तो उस खेत का पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन की चाइना की पर एकड़ प्रोडक्टिविटी गेहूं की चावल की हर एक में ज्यादा है पर एकड़ प्रोडक्टिविटी तो चाइना के पास हमारे पास एरेबल लैंड जितनी है उतनी ही चाइना के पास है चाइना का भले लैंड एरिया हमसे दो तीन गुना हो पर उसके पास खेती लायक जमीन उतनी है जितनी हमारे पास है लेकिन वहां पे खेती इसलिए ज्यादा हो रही है कि किसान को पंद्रह साल के लिए बीस साल के लिए लीज दी जाती है और वहां पे एब्सेंटी लॉन्डलोड का सिस्टम नहीं है फिर यदि किसान है उसको नॉर्मली लीज उसकी रिन्यू हो जाती है उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को लीज मिल जाती है लेकिन यदि बेटा उसके शहर में नौकरी कर रहा है मान लो इंजीनियर बन गया या शहर में कोई मैनेजर बन गया तो फिर उनको लीज नहीं मिलती फिर वो लीज किसी भूमिहीन मजदूर को दी जाती है जो कि वहां पे गांव में ही रहता हो और वो खुद खेती करने को तैयार हो तो इस तरह से वहां पे खेती की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो खेती की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वहां समृद्धि ज्यादा है और उसकी वजह से भी इंडस्ट्री में लगाने के लिए पैसा चाइना में ज्यादा है तो ये तीन चार रीजन है कि चाइना की जुडिशरी में भ्रष्टाचार कम है नेपोटिज्म कम है भाई भतीजावाद कम है वकीलों के साथ साठगांठ कम है और वहां ज्यूरी सिस्टम आ रही है इससे इंजीनियरिंग वहां पे और बढ़ जाएगा वहां पे जमीन प्राइवेट नहीं है जमीन का किराया सीधा सरकार को मिलता है तो सरकार को टैक्स डालने की जरूरत कम पड़ती है और उसकी वजह से जमीन का होर्डिंग नहीं हो रहा जमीन के दाम नहीं बढ़ रहे इंडस्ट्री को ऑफिसों को जमीन सस्ते में मिल जाती है तो इंडस्ट्री ऑफिस ज्यादा आगे बढ़ रही है फिर मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि वहां पे डैम ज्यादा है, डैम ज्यादा है तो वहां सिंचाई ज्यादा हो रही है तो उद्योगों को पानी भी सस्ते में मिल रहा है। इंडिया में बहुत सारे उद्योग है जिनको पानी नहीं मिल रहा। पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डैम नहीं बने। डैम क्यों नहीं बने? क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा है, इसलिए वो इंडस्ट्री पानी में बैठ गई। तो ये जुडिशरी है, वो बहुत तरह से हमें देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये हाईवे में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अहमदाबाद बरोड़ा का हाईवे है, उसको बनाने में पंद्रह साल लगे। चाइना में ऐसे हाईवे छह महीने में आठ महीने में बनते हैं पंद्रह साल क्यों लगे क्योंकि जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट था उसको जमीन एक्वायर करने में ही बारह पंद्रह बारह चौदह साल लगे जमीन एक्वायर करने में क्यों बारह चौदह साल लगे क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी चढ़ ने स्टे ऑर्डर डाल के रखा था तो वो स्टे ऑर्डर से निपटने में ही उनको बारह साल लगे लैंड एक्वायर करने में बारह साल लग गए और उसकी वजह से पूरा हाईकोर्ट का काम है पूरा जो ये हाईवे का काम है वो डिले हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसएमएस से ऑर्डर भेजो अपने एमपी को कि भारत में जूरी सिस्टम का कानून वो गैजेट में छापे भारत में यदि गैजेट में जूरी सिस्टम का कानून छप जाता है तो जूरी सिस्टम आ जाएगी तो चाइना से भी हमारी जुडिशरी अच्छी हो जाएगी और ये स्टे ऑर्डर का सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये आ, भाई भतीजावाद जो कोर्ट में चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो एमआरसीएम का लॉ है चैप्टर पांच में मैंने डिस्क्राइब किया ये मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो है राइट टू रिकॉल पार्टी का manifesto Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M पे मिलेगा आपको आप डाउनलोड uh, कर सकते हैं उसके चैप्टर फाइव में मैंने एमआरसीएम रखा है यानी मिनरल रॉयल्टी जब सीधी सिटीजन को मिलेगी तो उससे जमीन का दाम कैसे कम होगा कि सरकार की जमीन से जब किराया लिया जाएगा तो बहुत सारी संस्थाएं जिनों के पास मिलों की मिल जमीन वो uh, लेके बैठे हैं कुछ उपयोग नहीं कर रहे उसका जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है उसने वाइस चांसलर को बंगला देके रखा है बंगले में स्विमिंग पूल बनाने की बात चल रही है vice chancellor Gujarat vice chancellor है वो बोलता है मुझे बंगले में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनाना है क्योंकि इतनी सारी जगह खाली पड़ी है मुझे स्विमिंग पूल बनाना है अब क्या जरूरत है उसको बंगला देने की चार पांच बेडरूम का फ्लैट दे सकते हो वाइस चांसलर को इसी तरह से ये आईआईएम में चले जाओ तो हर एक प्रोफेसर को बंगले बन दे के रखे आ, उस बंगले की मार्केट वैल्यू अब तो दो चार करोड़ हो गई होगी चार बेडरूम का फ्लैट दे दो, दो पांच बेडरूम मैक्सिमम पांच बेडरूम का फ्लैट दे दो बहुत हो गया तो सौ एकड़ का प्लॉट है आईएम अहमदाबाद का गुजरात यूनिवर्सिटी का चार सौ एकड़ का प्लॉट है जब उनको बोला जाएगा कि भाई किराया निकालो तो आईएम खुद बोलेगा कि भाई ये दस एकड़ हमारे लिए बहुत है ये नब्बे एकड़ ले जाओ तो वो नब्बे एकड़ सरकार इंडस्ट्री को दे सकती है किराया पे तो ऑटोमेटिकली उससे लैंड के प्राइस कम हो गया और इंडस्ट्री बढ़ेगी फिर चाइना में एक और भी है कि वहां पे मिक्स यूज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है जो इंडिया में नहीं है मिक्स यूज बिल्डिंग क्या है कि इंडिया में आप किसी जाओगे तो एक तो पूरा बिल्डिंग है जो कि कॉमर्शियल है और उसके आसपास कहीं रेसिडेंशियल ढूंढना है तो आपको कम से कम एक किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा उसके आधे किलोमीटर एक किलोमीटर में कहीं रेसिडेंशियल नहीं मिलेगा चाइना में मिक्स यूज बिल्डिंग किस तरह से है कि बिल्डिंग का जो नीचे का दो तीन फ्लोर है वो कॉमर्शियल है ऊपर के चार पांच दस सात आठ फ्लोर है वो ऑफिस है और ऊपर के सात आठ दस फ्लोर है वो रेसिडेंशियल है तो कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉई है वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे उनका कॉम्यूट टाइम कम हो गया आप पेट्रोल का खर्चा भी खत्म हो गया उनका आज बॉम्बे में क्या प्रॉब्लम है कि वो आठ घंटे नौकरी करता है लेकिन उसके तीन घंटे तो आने जाने में निकल जाते हैं और चाइना में ये कॉम्यूट टाइम क्यों कम है क्योंकि जो ऑफिस में काम करने वाला अनमेरिड लेबर है अनमेरिड वर्कर है वो 70-80 परसेंट केस में उस, उसी बिल्डिंग में रहता है या तो पास के बिल्डिंग में रहता है फिर चाइना में जितने नए बिल्डिंग बने हैं नए यानी पिछले 20 साल में वो सब टनल से कनेक्टेड है हर एक बिल्डिंग में एक फर्स्ट फ्लोर लेवल का टनल होता है या सेकंड फ्लोर लेवल का ब्रिज होता है या तो हर एक बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टनल होता है तो मुझे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है तो रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है तो उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता तो जो मिक्स यूज बिल्डिंग है उसकी वजह से इंडस्ट्री की और जो ऑफिसर्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है तो ये सारे चीज हम भारत में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जितनी जल्दी ये चीज इम्प्लीमेंट होगी उतना जल्दी हमारा इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगा उतना जल्दी हमारा हमारी सेना मजबूत होगी और यदि हमारी सेना मजबूत नहीं होगी तो फिर क्या होगा हमको अमेरिका के गुलाम बनना पड़ेगा कि चीन हमला करने वाला है हम अमेरिका के पांव पकड़ के कहेंगे कि भाई तुम अपने हथियार दो हमें अपनी सेना यहाँ पे डिप्लॉय करो और हमारी रक्षा करो जैसे कि 1962 में नेहरू ने कैनेडी को एक लेटर लिखा था उसने लेटर में लिखा था कि आप अमेरिका से एयरफोर्स की छः या आठ जो भी स्क्वाडन है वो आप भारत में डिप्लॉय करो तीन कश्मीर में डिप्लॉय करो चार असम में डिप्लॉय करो और हवा चीन हम पे हमला कर रहा है हमारी रक्षा करो इस तरह का लेटर जवाहरलाल गांधी ने जेएफ कैनेडी को लिखा था और अब नौबत यही आ रही है कि जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसको ये लेटर नहीं लिखेगा तो दूसरा लेटर लिखना पड़ेगा कि भाई भारत में आके हथियारों का उत्पादन करने की फैक्ट्रियां डालो तो बात तो घूम फिर के वही आ गई और अमेरिका हमारी रक्षा करता है उसमें नुकसान क्या है कि जिस दिन अमेरिका के साथ युद्ध होगा उस दिन तो हम लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे आज चाइना हम पे युद्ध कर रहा है तो हमें डर है कि हम लड़ने के बाद हार जाएंगे लेकिन इतना तो है कम से कम लड़ पाएंगे यदि हम अमेरिका के हथियार खरीदते हैं बड़े पैमाने पे या अमेरिका की कंपनियों के पांव पकड़ के बोलते हैं कि भाई भारत में आके फैक्ट्रियां डालो तो जिस दिन अमेरिका के साथ युद्ध होगा वो अपना किल स्विच ऑन कर देंगे एक भी हथियार काम नहीं करेगा प्लेन अमरीका का है वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा एक बार वो किल स्विच का बटन दबा देगा तो तो जब अमरीका के साथ हमारा युद्ध होगा तो हम लड़ने के काबिल में नहीं रहेंगे बिना लड़े हम हार जाएंगे और इस तरह का हाल बहुत सारे देशों का हुआ है जैसे कि लीबिया और इराक पे जब वॉर किया था अमेरिका ने तो रशिया ने इराक के पास जो छोटे मोटे मिसाइल थे एस एस वन और इस तरह के रशिया के मिसाइल थे उसके स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर दिया तो इराक के आधे से ज्यादा मिसाइल इराक फायर ही नहीं कर पाया वो फायर करता तो भी हार जाता वो कोई वो बात अलग है मेन प्रॉब्लम इराक का ये था कि सदाम हुसैन ने 20 साल शासन किया उसने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं डाली वो उसकी बड़ी गलती है पर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको हाईलाइट क्या करना चाहता हूं कि यदि विदेशों से हथियार खरीदते हुए तो एंड मोमेंट पे यदि विदेशी ताकत बिक गई तो वो हथियार क्यों काम नहीं आता क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट का मेंटेनेंस पार्ट भी नहीं मिलेगा तो वो पूरा का पूरा हथियार सौ करोड़ का हथियार है उसका एक करोड़ का मेंटेनेंस पार्ट नहीं आया तो वो सौ करोड़ का हथियार है वो म्यूजियम बन गया वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा जैसा इराक के साथ हुआ कि उसके आधे एस एस वन मिसाइल वो फायर भी नहीं कर पाया क्योंकि रशिया ने उसको स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया तो इस तरह से हमें भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डालनी चाहिए उसके लिए हमें अपना इंजीनियरिंग सुधारना चाहिए और उसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अदालतें सुधारने से उसकी शुरुआत आप इस वक्त कैसे कर सकते हो आप इसी वक्त कुछ कर सकते हो ऐसा मत बोलो कि भाई जब तक तुम्हारे पास 500 सौ एमपी नहीं आएंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास 500 करोड़ का डोनेशन नहीं आएगा तब तक तुम कुछ तुम्हारे पास मोबाइल है मोबाइल से तुम अपने एमपी को एसएमएस भेज सकते हो एसएमएस से ऑर्डर कर सकते हो कि भाई भारत में ज्यूरी सिस्टम का कानून लाओ और एमपी का नंबर आपको पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएगा धन्यवाद